प्रणव ध्वनि ओ प्रेमी सज्जनों आर्यभि विनय के द्वितीय प्रकाश का सातवां मंत्र आर्यों को करणीय प्रार्थना के रूप में आज हमने पढ़ा परमात्मा से प्रार्थना की गई यतो यत समीहसे ततो नो अभयम कुरु हे परमात्मा जहां जहां से आप चेष्टा करते हैं अर्थात जहां जहां आप विद्यमान हैं और अपनी विविध क्रियाएं करते हैं हम सब प्राणियों के हित के लिए उन सब जगहों से महर्षि ने यहां पर समस्त कालों को भी लिया है समस्त स्थानों पर और समस्त काल में सभी जगह क्योंकि परमात्मा सब जगह विद्यमान है सर्वत्र व्यापक है इसलिए जहां जहां से शब्द का अर्थ निकलेगा सर्वत्र सब जगह से सब स्थानों पर ततो नो अभयम कुरु वहां वहां से वहां वहां पर हमें अभय करो स्थान की दृष्टि से अभय प्राप्ति की कामना उस स्थान पर रहने वाले प्राणियों वस्तुओं से की जाएगी किसी स्थान से अपने आप में हमें डर नहीं लगता है यदि किसी स्थान पर हमें डर लगता है तो अन्यों के द्वारा कुछ हानि की आशंका के कारण लगता लगता है स्थान तो एक चेतन पदार्थ नहीं है कोई प्राणी नहीं है कोई उस तरह की वस्तु नहीं है जो हमारे को हानि कर दे इसलिए उस उस स्थान से हमें अभय करो जहां जहां आप चेष्टा करते हैं जहां जहां आपने कार्य जगत बना रखा है परमात्मा की वहां सब जगह चेष्टाएं हैं जहां उसने इस संसार को बना रखा है लोक लोकांतरों को बना रखा है उन सब जगह परमात्मा का कर्तृत्व तो वहां विद्यमान है परमात्मा की चेष्टा ईक्षण वहां पर विद्यमान है वहां सब जगह आप हमें अभय करो निर्भय करो आगे कहा शन्न कुरु प्रजाभ्य अभयम न पशुभ्य प्रजाओं से जो अन्य मनुष्य हैं हमारी संतानें हैं हमारे इष्ट मित्र हैं और भी जो मनुष्य हैं उन सब से और पशु पशुओं से जितने भी पशु हैं हमारे पालतू पशु हैं अथवा जंगलों में रहने वाले पशु हैं उन सब से न हमारा शम कल्याण करो और अभयम करो अभय भी करो शम सुख के अर्थ में है कल्याण के अर्थ में है एक सकारात्मक चीज उनसे हमारा हित हो और अभय की कामना है कि उनसे कुछ हानि हो सकती हो तो वो ना हो सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति ये प्राणी मात्र की प्रत्येक आत्मा की स्वाभाविक इच्छा है और उसकी परमात्मा से यहां पर प्रार्थना की गई महर्षि ने लिखा आगे किसी से किसी प्रकार का भय हम लोगों को आपकी कृपा से कभी ना हो परमात्मा की ऐसी शक्ति सामर्थ्य जिसके रहते हमें किसी से कभी भी किंचित मात्र भी भय ना हो और ये निर्भयता हम क्यों चाहते हैं जिससे हम लोग निर्भय होके सदैव परमानंद को भोगें और निरंतर आपका राज्य तथा आपकी भक्ति करें भय की स्थिति में कोई भी व्यक्ति सुखी और शांत नहीं रह सकता यदि हमें सुख शांति चाहिए तो निर्भयता भी चाहिए कितने भी साधन हो सुख साधन हो यदि वहां किसी भी तरह का भय है अन्यों से तो सुख साधन हमारे लिए अच्छे सुख के देने वाले नहीं बन पाते तो इस आनंद को भोगें और वो इसलिए कि इससे आपका राज्य बढ़े आपके आदेश आपका अनुशासन इस भूमि पर सर्वत्र फैले बढ़े और हम आपकी अधिक से अधिक भक्ति कर सकें तो परमात्मा का राज्य फैलने के लिए निर्भयता चाहिए परमात्मा की भक्ति के लिए निर्भयता चाहिए भय की स्थिति में व्यक्ति अधर्म की ओर भी झुक जाता है मन में अधर्म की तरफ स्वतः लोभ लालच से इच्छा न होते हुए भी किसी भय के कारण भी वो अधर्म की तरफ झुक जाता है साधना करता चाह करना चाहता हुआ भी भय के कारण से साधना नहीं कर पाता है तो हमें निर्भयता इन चीजों के लिए चाहिए निर्भयता का होना आवश्यक है इसलिए परमात्मा से निर्भयता की प्रार्थना की गई और प्रार्थना के साथ चूंकि पुरुषार्थ भी जुड़ा है इसलिए ये हम सबका कर्तव्य बनता है आर्यों का कर्तव्य बनता है कि जहां जहां भी हम जाते हैं हमारी गतिविधियां हैं वो हम निर्भयता से कर सकें जहां भी हम साधना करते हैं भक्ति करते हैं वहां हम निर्भय रह सकें जिन पशुओं के संपर्क में हम आते हैं या आने की संभावना है उनसे हम निर्भय रह सकें निर्भयता रहे हमारी इसके लिए हमारा प्रयास प्रयत्न होना ही है होना ही चाहिए अनेक बार इस साधना के मार्ग में आने पर निर्भयता का भाव पैदा करने के लिए ईश्वर की सुरक्षा इत्यादि को मानते हुए सब चीज ईश्वर पर छोड़ते हुए निर्भयता की स्थिति बनाई जाती है और वो स्थिति कई बार ऐसी बनाई जाती है कि हम विभिन्न हानियों से <clears throat> उनकी प्रति सुरक्षा से उपेक्षा कर देते हैं उसके लिए प्रयास छोड़ देते हैं ये मान करके कि परमात्मा की रक्षा तो विद्यमान है परमात्मा के रहते मुझे किस बात का भय है परमात्मा तो रक्षक है निर्भय करने वाला है तो अपने पुरुषार्थ को छोड़ देते हैं अपने शरीर की रक्षा अन्य प्राणियों से कोई काट ना जाए कुछ और ना हो जाए रात्रि में सोते समय अपनी सुरक्षा के प्रति उपेक्षा कि परमात्मा सर्वरक्षक है तो हमें क्या करने की आवश्यकता है इत्यादि भाव जो साधकों में भक्तों में आ जाता है वो आलस्य आना पुरुषार्थ को छोड़ना इस हद तक अगर जा रहा है तो वो गलत हो जाता है परमात्मा की सुरक्षा है परमात्मा अपने ढंग से जितनी सुरक्षा करता है वो करता है और आगे भी करता रहेगा किंतु उसका ये अर्थ नहीं है कि हम अपना पुरुषार्थ छोड़ दें और वो परमात्मा पे सारी सुरक्षा का भार छोड़ दें क्योंकि परमात्मा उस तरह से रक्षा नहीं करता है हमारी हम यात्रा के समय निर्भय हो जाएं बिल्कुल और अपने वस्तुओं की रक्षा ना करें अपने घर की पे ताला नहीं लगाएं उचित बंद करना है सुरक्षित रखना है वस्तुओं को वो ना करें और निर्भय होकर के चलें कि चोर नहीं आएगा उचक्का नहीं उठाएगा सामान हमारा क्योंकि हम तो निर्भय हैं परमात्मा पे छोड़ रखा है हमने ये एक अतिवादी दृष्टिकोण हो जाता है और परमात्मा जैसा नहीं है वैसा हम उसको मानने लग जाते हैं परमात्मा पे अति आश्रित हो जाते हैं परमात्मा ऐसा नहीं चाहता कि हम उस पर इस प्रकार से आश्रित हों इस ढंग से आश्रित हों हमें अपनी सुरक्षा का पूरा प्रयास तो करना ही है अनेक बार जब हम अपनी सुरक्षा का प्रयास करते हैं तो दूसरे ये कहते हैं कि इसका मतलब है आपको डर है अपने अपने साथ में लाठी रख रखी है आपने अपने साथ में कुछ और सुरक्षा के साधन रख रखे हैं आप अपने घर के चारों ओर दीवार बना रहे हो बाढ़ बना रहे हो हिंसक पशु ना आ जाएं, चोर लुटेरे ना आ जाएं, आपने सुरक्षा कर्मी रख रखा है ये किस बात का द्योतक है कि आपको भय है भय है तभी तो आप सुरक्षा के उपाय कर रहे हैं आप ईश्वर के विश्वासी होते हुए भी ये भयभीत हैं इससे पता लगता है कि आप ईश्वर को नहीं मानते ईश्वर पर आपका विश्वास नहीं है दूसरा न कहे अनेक साधकों के मन में ये बात आ जाती है कि यदि मैं अपनी रक्षा कर रहा हूं इसका मतलब है मैं परमात्मा पर विश्वास नहीं कर रहा हूं तो वेद का मंत्र इस प्रकार का संकेत नहीं करता कि हमें अपनी रक्षा नहीं करनी चाहिए और रक्षा परमात्मा पे छोड़ देनी चाहिए अपना पूरा पुरुषार्थ करते हुए फिर परमात्मा पे छोड़ा जाता है ये वैदिक शैली है उसको छोड़ करके जो भी रहेगा वो हानि को उठाएगा उसे अन्य प्रजाओं से हानि मिल सकती है कभी भी हानि हो सकती है उसे अन्य पशुओं से भी हानि हो सकती है अन्य प्रजाओं से हानि की संभावना है दुख की संभावना है तभी तो उनसे निर्भयता की कामना की जा रही है भय हमें हानि से होता है हानि की कोई आशंका ना हो तो भय नहीं होगा भय हमें दुख से होता है दुख भी हानि ही है तो साधना पथ पे आके धार्मिक बन के जो हम निर्भयता को प्राप्त करते हैं वो निर्भयता ये निर्भयता नहीं है कि हम सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दें अपना पूरा पुरुषार्थ करते हुए अब जो भय रह सकता है अपने पुरुषार्थ के सुरक्षा के उपाय करके भी भय तो रह ही सकता है क्योंकि कोई भी कुछ कर सकता है कभी भी कुछ हो सकता है उस स्थिति में परमात्मा पे छोड़ने की बात होती है कि इन सब पुरुषार्थ के बाद भी यदि कुछ हो जाता है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है परमात्मा की सुरक्षा है परमात्मा की व्यवस्था है यदि कुछ अन्याय अत्याचार मेरे साथ हो भी गया तो उसकी पूर्ति होगी कर्मफल व्यवस्था विद्यमान है तो डर किस बात का ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप चलने वालों को वाले को वालों को किसी प्रकार का भय करने की आवश्यकता ही नहीं है जितना जितना वो ईश्वर की आज्ञा से दूर है कम है कम आचरण कर रहे हैं उतना तो भय उनको हो सकता है और अगर कमी है तो तब भय हमें रखना ही चाहिए कि परमात्मा की इन आज्ञाओं का हम पालन नहीं कर रहे हैं तो इससे हानि होगी हमारी हम अपना अनिष्ट स्वयं करेंगे लेकिन यदि हम परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप पुरुषार्थ कर रहे हैं फिर कोई भय की बात नहीं यदि ऐसी स्थिति में हमारा कुछ अहित हो जाता है शरीर का वस्तुओं का हमारे पशुओं का हमारे व्यक्तियों का तो भी वहां भय करने की कोई आवश्यकता नहीं परमात्मा की तरफ से न्याय होगा तो परमात्मा से इस निर्भयता की कामना की गई साधक लोग कई बार परमात्मा के प्रति अपनी भक्ति को तोलने के लिए जांचने के लिए बिना साधनों के निकल पड़ते हैं जंगल में ऐसे ही अनजान स्थानों पर ये देखने के लिए कि मेरे को भय आता ही नहीं आता है मुझे ईश्वर पर विश्वास है या नहीं है ये एक गलत प्रक्रिया है ये कोई कसौटी नहीं होती ये कोई प्रमाण नहीं होता ऐसे ही निकल पड़े कोई भी लोग हैं यात्रा चल रही है कहीं भी सो गए ठीक है हमारे पास कुछ लुटने लायक है ही नहीं तो दूसरा कोई क्या हमसे लेगा वो अलग बात है लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ही हमारे पास में हमारे कपड़े तो होंगे कमंडलू तो होगा चप्पल तो होगी और यही सोच करके रहें कि दूसरा कौन व्यक्ति है उसके प्रति कोई विचार नहीं करें यात्रा में कोई भी मिल गया उस पर विश्वास कर लिया उसने जो खिला दिया खा लिया उसके पास सामान छोड़ गए बिना परीक्षा के ऐसे ही विश्वास कर लिया अच्छे लोग होते ही हैं अधिकांश लेकिन कुछ बुरे भी होते हैं इस निर्भयता को विकसित करने के लिए ऐसे ही छोड़ करके निकल पड़े कि नहीं मुझे तो निर्भयता की परीक्षा करनी है मैं परमात्मा के ऊपर पूरा विश्वास करता हूं या नहीं करता हूं यदि मुझे भय हो रहा है तो इसका मतलब है मैं परमात्मा पर विश्वास नहीं कर रहा हूं ठीक है एक स्तर पर यह परीक्षण किया जाता है लेकिन इस विषय में सदैव ये ध्यान रहे कि हम अपना पुरुषार्थ छोड़ करके यदि निर्भयता की कसौटी देख रहे हैं अपनी तो ये एक बहुत गलत तरीका है जो अपने घरों की सुरक्षा रखते हैं कमरे को बंद करके सोते हैं साधना में बैठते हैं तो बोले दरवाजा बंद करके रहते हैं कि कोई आ ना जाए कोई पशु ना आ जाए जंगल में भी है तो कुटिया बंद करके रहते हैं गुफा को बंद करके रखते हैं वो रखना ही होता है रखनी ही चाहिए नहीं तो कभी भी यदि मृत्यु होती है कोई हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति नहीं होगी क्योंकि हमने पुरुषार्थ नहीं किया परमात्मा के नियम का पालन नहीं किया तो परमात्मा से हम निर्भयता की प्रार्थना कर रहे हैं निर्भयता के लिए हमें अपना पूरा प्रयास करना चाहिए उसके लिए सेना रखनी है तो सेना होनी चाहिए सुरक्षाकर्मी रखना है तो वो होना चाहिए सुरक्षा के कुछ साधन रखने हैं हथियार रखने हैं तो वो होने चाहिए व्यक्तियों को रखना है तो वो होने चाहिए मकान बनने हैं ताले लगने हैं तो वो होना चाहिए परमात्मा की निर्भयता को अभय को हम उसके उसी रूप में यदि समझ पाते हैं तो हम वास्तविक निर्भय रहते हैं और नहीं तो ऐसा होता रहेगा कि हमने अपना पुरुषार्थ छोड़ दिया परमात्मा पर हम अति विश्वास कर बैठे और निर्भय हो गए और तब जो हानि होगी तब हानि तो होगी ही कुछ और भी टूटेगा कुछ और भी हानि होगी ऐसा एक बार दो बार ईश्वर के प्रति विश्वास टूट जाएगा क्योंकि वो ये मान के चलता था कि ईश्वर मेरी रक्षा करेगा ईश्वर अभय प्रदान करता है मैं उसका भक्त हूं उसे ये नहीं पता कि मैं ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन भी साथ ही साथ कर रहा हूं और उसको चोट लगेगी कि परमात्मा पता नहीं है भी या नहीं और है तो वो रक्षा करता है या नहीं अभय प्रदान करता है या नहीं उसका प्रश्न वहां पर उठ जाएगा और हो सकता है वो नास्तिक भी बन जाए ईश्वर विश्वास भी हटा दे अपनी हानि तो करेगा ही और ईश्वर के प्रति जो आस्था उसकी थी एक महत्वपूर्ण गुण था वो भी उसका चला जा सकता है तो अभय की प्रार्थना हमें ईश्वर से अवश्य करनी चाहिए ईश्वर हमें अभय प्रदान भी करता है उसने व्यवस्थाएं भी दी हैं पर हमें अपना पुरुषार्थ भी इसके लिए अवश्य बना करके रखना चाहिए और जहां भी भय उत्पन्न होता है जिस भी व्यक्ति से वस्तु से उसके लिए उपाय भी करना चाहिए हमें जागरूक भी रहना चाहिए कि हाँ इस व्यक्ति से कुछ हानि हो सकती है इस वस्तु से कुछ हानि हो सकती है ये आशंका रख करके आगे हो करके सावधानी रख करके जहां भी किसी भय की आशंका हो हानि की आशंका हो उसको पहले से तभी से शुरू से देखते हुए उसका उपाय सोच के रखना चाहिए उसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए और इस प्रकार जब हम निर्भय होंगे तो परमात्मा के परमानंद को भी भोगेंगे उसके राज्य को भी फैलाएंगे और परमात्मा की भक्ति भी अच्छी प्रकार से कर सकेंगे किन्हीं को कुछ पूछना हो तो स्वामी जी स्वामी तो जीवन में में आता है कि वो कर रहे थे तो फिर वहां जंगल में क्या हुआ था जंगल में क्या हुआ था भालू आया था उन्होंने क्या किया था उन्होंने क्या किया था डंडा लिया था या कमंडलू जो भी हो क्यों लिया था वो डंडा क्यों लिया था वो डंडा परमात्मा की रक्षा अगर उस रूप में वो मानते होते जिस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है कि परमात्मा रक्षक है तो मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है ये कुछ बातें महर्षि ने कही या नहीं कही ये तो अपने आप में फिर भी विचारनी है महर्षि की आत्मकथा में हो तो हम बिल्कुल प्रमाणिक मान सकते हैं लेकिन वैसे बहुत सारी बातें महर्षि के नाम से भक्ति भाव से लिख दी गई हैं उनकी ईश्वर की भक्ति को बताने के लिए निस्संदेह वो बहुत बड़े भक्त थे और उनको कोई डर भी नहीं था लेकिन पुरुषार्थहीनता तो वहां पर नहीं पुरुषार्थ वो अपने आप में इतने समर्थ थे अपने आप में उनको इतना विश्वास था कि ऐसा कुछ होगा तो मैं झेल लूंगा ठीक है परमात्मा का विश्वास भी साथ में रहता है पर प्रयत्न तो रहता ही है उन्होंने प्रयत्न के लिए निर्देश भी किया है सत्या प्रकाश में भी उन्होंने प्रसंग में एक प्रसंग में लिखा है कि सौ विद्वान भी हों और यदि दुष्ट बलवान वो निर्बल हो तो दुष्ट एक भी दुष्ट आकर के डंडे से या यंत्र से उनको कुछ भी कर सकता है उनके साथ में वो सावधानी रखनी होती है रखनी ही चाहिए वो निर्भयता है नहीं तो गाजर मूलियों की तरह जैसे पहले कटते रहे हैं वैसे कटते रहेंगे वो ईश्वर अति विश्वास में तो हुआ बहुत सारा वो भी कारण था मानते रहे कि ईश्वर है या वो भगवान है हमारा जिनको भी मानते थे तो हमारी रक्षा करेगा हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है यही तो मूल बिंदु था कितना नाश इसके कारण से हुआ तो महर्षि का ये सिद्धांत तो नहीं माना जा सकता उनके ग्रंथों में इस तरह की बात नहीं मिलती वेदों में इस तरह की बात नहीं मिलती रक्षा के लिए कितना लिखा है वेदों के अंदर अस्त्र शस्त्रों के लिए कितना लिखा है वो उस, बात सबका समर्थन करता है हो गया हाँ, हाँ लेके नहीं जाते थे उन्हें विश्वास था जानकारी थी कि लाठी कहीं भी मिल जाएगी मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा कुछ और करूंगा पहली बात तो ये घटना और ये कहना अपने आप में साध्य कोटि में साध्य कोटि में है ये यदि कहा है तो मैं अभ्युपगम से आगे की बात कह रहा हूं कहा या नहीं कहा ये एक अलग बात है लेकिन अभ्युपगम से मान करके चल रहे हैं ठीक उन्हें कुछ जानकारी होगी और दूसरा वो काल जो था उनका बहुत पहले का काल था प्रारंभ में हो सकता है उनके मन में ऐसा ऐसी भावना रही हो ये घटना तो स्वामी विरजानंद जी के पास जाने से पहले की होनी चाहिए जब वो भटक रहे थे गुरु की खोज में सच्चे शिव की खोज में घर से निकले थे ये तो उस समय पहले की घटना होनी चाहिए बाद में नहीं बात की नहीं तो यदि है भी ऐसा तो उसकी हम उस ढंग से देखना चाहिए लेकिन उनके ऐसे निर्देश मेरे को तो कहीं ध्यान नहीं आते या वेदों में इस तरह का कोई कथन आता हो शास्त्रों में कि हमें अपनी सुरक्षा का कोई उपाय नहीं करना चाहिए और बिना पुरुषार्थ के हम ईश्वर से अभय की कामना करें श्रुति देवी प्रमाण के रूप में देने की बात आती है तो महर्षि के जीवन में जैसे अभी आपने निरपेक्ष किया काफी अंत में जाकर के उनको पूर्ण ज्ञान जितना भी महर्षि को जिसको है उसकी प्राप्ति कई लोग कहते हैं उनको वो तो जन्म से ही जीव को प्राप्त है पर ज्ञान की दृष्टि से अभी आपने संकेत गुरु जी से मिलने के बाद उनके ज्ञान की दृष्टि मिली उससे फिर उन्होंने जो साधना की उससे उनकी ज्ञान में एक शुद्धता आ तो ऐसे में ऋषि के नाम लेकर के उनके जीवन के पहले की बात बातों को हर हर शब्द को हर अक्षर को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना कितना उचित है हाँ, नहीं ठीक है वो और हम खासतौर से उनके जैसे जो अंतिम ग्रंथ हैं बाद के जो हैं हालांकि वो खुद कह गए कि उसमें भी त्रुटि की संभावना हो सकती है और हमें कसौटियां दे करके गए हैं तो यदि वेद के अनुकूल वो बातें हैं तो हम स्वीकार करते हैं वो भी स्वयं कह करके गए हैं और इस तरह का कोई संकेत कि स्वामी जी जैसे और लोग अहिंसा की बात करते थे महर्षि दयानंद की अहिंसा वैसी अहिंसा हो वैसे सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ और परमात्मा पे आश्रित हो जाओ ऐसा तो महर्षि नहीं मानते रहे दूसरे लोग मानते रहते हैं कई लोग बहुत पढ़े लिखे भगवान मान के भी ये कहते हैं कि महापुरुषों का जो आचार जो है वो हमारे लिए प्रमाण इसलिए ऋषि की हर बात हर चेष्टा हर उन्होंने जो कुछ भी पहना जो नहीं पहना वो सब हमारे लिए प्रमाण है मतलब जैसा किया वैसा करे तो ही तो ठीक है वो एक भक्ति भाव में या अति श्रद्धा में अति अति में जाकर के इस तरह के कथन होते हैं <clears throat> उनको देखेंगे तो वो भी महर्षि की सारी बातों को वास्तव में वो भी नहीं करते होंगे करते नहीं होंगे पर ये ठीक है महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं पर उसके बाद में भी हमें क्या स्वीकारना है इसका विवेक तो हमारा होना ही चाहिए उसका उत्तरदायित्व तो हमारा ही बनता है यदि हम किसी उनकी बात को जो कि ठीक नहीं है या उनके नाम से कही जा रही है और हम उसको वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं और कुछ हानि होती है तो उनका दोष नहीं होगा उन पर आरोप नहीं लगा सकते हमने इस तरह से नहीं समझा हमने विवेक का प्रयोग नहीं किया हमें तो हमेशा देखना ही पड़ेगा हर व्यक्ति को देखना ही हमारा कर्तव्य है छान करके लेना ही पड़ेगा हमें सावधानी हमें रखनी ही पड़ेगी कंकर तो नहीं आ रहा है अन्न के साथ में ये हमारा अपना व्यक्तिगत कर्तव्य बनता है और यूं अपना पुरुषार्थ करने में कोई सिद्धांत तथा विरोध नहीं प्रतीत हो रहा कि ये इस दृष्टि से गलत है इससे विशेष रूप से आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए अन्य लोग तो अपनी सुरक्षा रखते ही हैं प्राय प्रयास करते हैं लेकिन आध्यात्मिक व्यक्तियों में ये प्रवृत्ति देखी जाती है और जो सुरक्षा का उपाय करते हैं सोचते हैं बोलते हैं उनको डरने वाला कहा जाता है उन पर आक्षेप लगाने लग जाते हैं हाँ कोई अनावश्यक रूप से डर रहा हो ठीक है उसके लिए कहा जा सकता है वहां पर लेकिन एक सुरक्षा का जो है बिना डर के अंदर से कोई डर नहीं है लेकिन अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए जो हम उपाय करते हैं निडर होते हुए अंदर से पूरे निडर लेकिन हम अपने कर्तव्य पालन के लिए जो उपाय कर रहे हैं उसमें कोई उस वो भय का द्योतक नहीं है आत्मन जी भावना है सत्यता का तो उस समय नैतिक विद्वान को भी अपने पास हथियार लेके उस तरह का हथियार लेके जाना चाहिए उचित है हाँ, जा सकते हैं जा सकते हैं वैदिक विद्वान मतलब तो मनुष्य मात्र के लिए ये आ, अपनी सुरक्षा का कर्तव्य बनता है चाहे वो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूत्र हो यद्यपि सुरक्षा का काम क्षत्रिय का है पर कुछ चीजें हम सब करते हैं शुद्धि का काम हम स्वयं करते हैं भले ही शूद्र नहीं है इसी तरह अपनी रक्षा का अपने साधन जुटाने का कुछ काम हम सब करते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के सारे कार्य सबको करने होते हैं न्यूनाधिकता होती है समाज की दृष्टि से ही विभाजन है व्यक्ति की दृष्टि से हमारी सुरक्षा क्षत्रिय का जो कर्म है वो हमें करना ही पड़ता है उसमें कोई दोष नहीं है यदि कभी यदि कभी ऐसा होता है यानी सामाजिक दृष्टि से हमें उसमें कुछ बाधा आ रही है क्योंकि लोगों की कुछ मान्यता है तो लोगों को इसकी सूचना ना रखी जाए हमें उनको दिखाना या बताना दूसरों को जताना तो आवश्यक नहीं होता है ना दूसरों को हम क्यों बताएं क्यों जताएं हाँ जहां कोई आवश्यकता नहीं है वहां भी हम उस तरह से सावधानी रखें वो एक अस्वाभाविक भय होता है बहुत लोगों में जहां कुछ भी आवश्यकता नहीं है वहां भी हम उस तरह की आशंका को लेकर के अति आशंका को लेकर के अति भयभीत होकर के असामान्य व्यवहार करने लग जाए वो तो गलत है सीमा तो हमें देखनी पड़ेगी कहां कितना उचित है ठीक है संभावना को देखते हुए कहा क्या हो सकता है उसकी दृष्टि से ये उपाय किए जा सकते हैं जाते हैं जहां आवश्यकता नहीं है वहां नहीं भी किए जाते हैं हमारा आकलन होना ही चाहिए उसके अनुरूप हमारा व्यवहार होता है सब जगह एक जैसा नहीं होता हो गया आत्मन जी हाँ तो जैसे कहा जाता है नहीं आती हम्म। तो इस दृष्टि से संभावना हो या ना हो मनुष्य जो हमारे आवश्यक है ले सकते हैं जहां कम संभावना हो तो भी लेकिन अति नहीं कर सकते ना अभी जैसे यहां हम लाठी लेकर के नहीं आए यदि रात को जाएं कहीं खेत में तो लाठी लेके जाना चाहिए हमारे को सुरक्षा इतनी तो कम से कम रखनी चाहिए क्या यूं संभावना कितनी है ये भी तो देखना पड़ता है एक है कि ठीक है संभावनाएं हैं लेकिन वो संभावना कितनी है ये विवेक भी रखना चाहिए अब यहां पर हमें ऑक्सीजन सिलेंडर रखना चाहिए नहीं आईसीयू रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए ना नहीं हो सकता है ना संभावना तो है ना किसका पता है कि कब किसको कुछ हो जाए कह सकते हो ना संभावना तो लेकिन हम नहीं रखते और मान लो रख भी ली यहां तो कहां कहां रखोगे एक यहां पर एक पाकशाला में एक निवास स्थान में कहां कहां रखोगे आप नहीं रख सकते वो साधन ही ऐसे ना हो जाए कि वही हमारे लिए समस्या खड़ी कर दें हम कार्य के लिए कर रहे हैं वो साधन ही ऐसे हो जाएंगे जो हमारे लिए समस्या खड़ी कर देंगे तो कैसे चलेगा कोई भी इसको उचित नहीं मानेगा ठीक है चिकित्सालय बना हुआ है इतने तक ठीक है एक सुरक्षा कर्मी रखा हुआ है हम यहां चारों तरफ कई सुरक्षा गार्ड रखे ये दीवारें तो बनी है लेकिन सब थोड़ा ना देख रहे हैं कहां से कौन घुस सकता है दीवार फांद के भी हो सकता है एक सीमा होती है अति नहीं उसके अंदर उतनी सुरक्षा उतनी हमारे साधन सामर्थ्य के अनुसार की जाती है अति होगी तो वो पागलपन आ जाएगा दोष माना जाएगा वो तो जहां आवश्यकता है वहां हाँ जहां संभावना हो सकती है हम कहीं अकेले जा रहे हैं यात्रा कर रहे हैं कहीं और जा रहे हैं उस दृष्टि से वहां तो जो साधन हम कुछ आसानी से कर सकते हैं ठीक ठीक उसके लिए है अब यहां कोई आवश्यकता नहीं है मान लो सांप आ भी गया तो हमारे पास दूसरे उपाय हैं कुछ भी कर सकते हैं इतने व्यक्ति हैं ठीक है उसकी संभावना भी कम है यहां तक आ जाए और यदि कोई आ भी जाता है कोई ऐसा व्यक्ति अचानक आ जाता है तो अब यू तो हम कहें कि अचानक कोई स्टैंड गन लेकर के आ जाए और आतंकवादी और हमें मार दे यहां पर चला करके मार सकता है ना अब यू संभावना तो कर दो लेकिन वो संभावना कितनी है संभावना कितनी है संभावना की मात्रा भी देखी जाती है अब आप देखो मृत्यु है मृत्यु कब कब आ सकती है मृत्यु कब आ सकती है कभी भी आ सकती है तो अगले क्षण भी आ सकती है कितने प्रतिशत संभावना है अगले क्षण आने की गणित को गणित को लगा के देखो कितने प्रति कितनी संभावना है संभावना तो पूरी पूरी है ना तो अगले ही क्षण है या उससे अगले क्षण भी है एक क्षण में है उससे अगले क्षण के लिए हाँ उसमें भी पूरी संभावना है कभी भी आ सकती मृत्यु और उससे अगले क्षण के लिए अगले मिनट में अगले घंटे में सब जगह पूरी संभावना है उस संभावना को बांटेंगे भी तो हम ये सारी बिल्कुल हर क्षण ले लेंगे उसको ले लेंगे तो आप कुछ काम कर सकते हैं क्या आप ये मानो कि अगले क्षण मृत्यु आ सकती है तो भोजन भी क्यों करें संभावना है ना अगले क्षण मृत्यु आने की केवल ये हम देख रहे हैं तो भोजन क्यों करेंगे तो क्या पता मृत्यु आ जाए तो खाना क्यों खाएं किसी और के काम आ जाएगा परोपकारी जीवें हम क्यों भूख को करें अच्छा उसका दूसरा पक्ष भी है कि बचने की संभावना कितनी है अगले क्षण मरने की संभावना है न मरने की संभावना कितनी है ये भी तो पक्ष है आप विवेक तो देखोगे ना न मरने की संभावना कितनी किसकी ज्यादा संभावना है अगले क्षण मरने की संभावना अधिक है या न मरने की संभावना अधिक है वो विवेक भी तो देखना पड़ेगा ना तो उसको ध्यान में रख करके ये विवेक अपना अपना काम करेगा उचित मेरे को मरने की संभावना है कब मैं मर सकता हूं कब नहीं तक नहीं मर सकता हूं ये ठीक है ये मानता है कभी भी मर सकते हैं हम लेकिन उसकी जितनी संभावना है उसी ढंग से तो तैयारी करेगा व्यक्ति हाँ जी हाँ ये सुरक्षा तो परमात्मा नहीं करते कि हम ताला खुला छोड़ाए और कोई चोर घुस जाएगा तो परमात्मा उसको रोक लेंगे परमात्मा की सुरक्षा हमारे को ज्ञान दे करके है उसने हमें साधन दिए हैं अभी दे रखे हैं बुद्धि दे रखी है ये शरीर दे रखा है ये सब दे करके वो हमारी सुरक्षा कर रहा है हम नहीं कर सकते ये सुरक्षा लेकिन इन साधनों का उपयोग तो हमें करना होगा उसने हमें ये बुद्धि दी है और हमारे पुरुषार्थ के बाद भी जब हमारी हानि हो जाती है तो वो न्याय व्यवस्था से उसकी पूर्ति करता है क्षतिपूर्ति करता है उस रूप में उसने हमें निर्भय कर रखा है जैसे बीमा किया हुआ हो तो दुखी नहीं होते हम कुछ हानि हो भी गई तो उसकी पूर्ति हो जाएगी इस रूप में उसने हमें निर्भय कर रखा है बाकी तो ये हमें करना ही होगा यही बात तो सारी मैं बोल रहा हूं इस तरह की सुरक्षा परमात्मा नहीं करता हमें इतना ज्ञान दे रखा है कि कोई मनुष्य की ऐसी गतिविधि हो तो समझ लेना कि ये कुछ कर सकता है ये आक्रमण के लिए तैयार है ये चोरी करने के लिए तैयार है हमारी वो हमें पता लगता है ये हम, हमें जागरूकता रखनी है तो ये जो सारा ज्ञान है सामर्थ्य दे रखा है उसने इस रूप में सुरक्षा करता है वो हमारी हमें अभय प्रदान करता है और एकदम कोई यूं नहीं आ जाता हमारे पास में ये व्यवस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं ठीक है तो तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे हमारे को अभय की प्राप्ति हो अभय में रहते हुए हम अपना उन्नति का मार्ग अच्छी तरह और शीघ्र पूरा कर सकें प्रणव ध्वनि ओ पृथिवी शांतिराप शांतिषधय शांति वनस्पत शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरव शांति सा शान्तिरेधि ओ शांति शांति शांति सर्वेभ्यो नमः नमस्ते